जीव मानना परिच्छिन्न मानना अज्ञ मानना अज्ञानी मानना अपने आप को अपने आप को अल्पज्ञ मान रहे हो अपने आप को जो अल्प शक्तिमान मान रहे हो शक्ति अशक्ति से परे हो अल्प शक्ति अल्पज्ञता सर्वज्ञता सबसे परे हो अरे उपासोपाधिक सामर्थ्य को लेकर के अपने आप एक शुद्रता तो लाना ही उचित नहीं है इसे कहते हैं ऐसा जो करता है वह अवश्य ही कृपण है ये हम नहीं कहते इसको कृपण करके श्रोतिया कहा है स्मृतियों ने भी कहा स्मृति स्मृति स्पष्ट कहते हैं वो कृपण है ओंकार निर्णय उक्त प्रपंच शिव अद्वैत आत्मा प्रतिज्ञा मात्र ज्ञाते द्वैतमृति ओंकार निर्णय पहला प्रकरण में सम्यक प्रकार से कह दिया गया था फिर प्रपंच में शिव अद्वैत आत्मा इस प्रकार से प्रतिज्ञा मात्र के द्वारा कथित वस्तु को ज्ञान द्वैतन इत्यादि के द्वारा भी बढ़िया समय प्रकार से अद्वैत को सिद्ध किया तथा तो द्वैता भाव तो वैसे तो प्रकरण स्वब्रह्माय गंधर्व नगराय दृष्टान्त ही दृश्यता अंतरत्ता हेतु तो ही तर्क न प्रतिपादिता और द्वैत के अभाव को वैचित्र प्रकरण के द्वारा स्वप्न के सदृश माया के सदृश गंधर्वगर आदि के सदृश दृष्टान्तों के माध्यम से दृश्यत्वारी अंतरत्वारी अनेकों हेतु के द्वारा तर्क के द्वारा प्रतिपादन कर दिया गया है अद्वैतम की मागम मात्र प्रतिपत्तव्य लेकिन अद्वैत को साक्षात सीधे आप जो आगम से प्रतिपादन किया तो प्रतिपादन नहीं किया इसे मन में आशंका हुआ क्या ये आपका अद्वैत तत्व जिसमें वर्णन करते हो वो आग मात्र के द्वारा प्रतिपत्तव्य है क्या तर्क के द्वारा प्रतिपत्तव्य नहीं है शक्त तर्केण ज्ञात तर्क से अद्वैत को जानना संभव है खत्म कैसा होगा वो तभी थी अद्वैत मार्ग थी इसी के वजह से यहाँ अद्वैत प्रगण का आरंभ किया जाता है यदि कहा नहीं शातर के आज श्रद्धि अतम कथम प्रकट आदम सत्यम यदि आक्षेपी तो कथम कहते वह तात्पर्य है क्या स्वतंत्र तर्क का प्रवेश नहीं हो सकता श्रुत के अनुकूल तर्क सब हो सकता है तर्कताम माँ को तर्क पंचदशिकार ने इसलिए कहा तर्कताम तर्क सिद्ध हो जाएगा लेकिन आज स्वतंत्र श्रुति निरपेक्ष कपोल कल्पित तर्पण के द्वारा विकसित करना की चेष्टा करोगे तो हो नहीं सकता स्वतंत्र का प्रवेश है तस्वीन आगमिक तर्क से सहकारितया संभावना हेतु तर्केण अभिज्ञात शीघ्र व्यवहार उपपत्ति मता अद्वैत प्रकरण आरभ्य स्वतंत्र तर्क बने नहीं होगा आगम अनुमान ही तर्क जो होते हैं वो भले ही नहीं हो सकते लेकिन आगमानुकूल जो तर्क है उनकी सहायता से यह संभव है इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ कहा गया तर्क के द्वारा भी यदि श्रुति के विरुद्ध ऐसे बोल रहे हो है ना जबकि तो वहां पर कहा लिया है नई शतर नई शतर के आपने यहाँ बोल दिया और यहाँ करे तर्क से हो सकता है तो फिर विरुद्ध बात लग रहा है लेकिन वहां तात्पर्य है स्वतंत्र तर्कों का निषेध और यहाँ तात्पर्य आगमार्ग तर्कों के द्वारा सिद्धि उपास्य उपासना आदि भेद जातम सर्वम उपास्य उपासना और आदि से उपासना ये जो भेद समूह है यह समस्त भेद समूह इसी प्रकार का निमित्र त्रिपुटियों को समझिए सर्वम विथकम सब कुछ मिथ्या है केवलाश आत्मा अद्वय परमार्थ यदि आदि दिए प्रकरण और केवल जो आत्मा है केवल आत्मा केवल आत्मा ही ऐसा तत्व है जो कि अद्वैत है और परमार्थ है यह बात अतीत प्रकरणों में अतीत प्रकरण विवचन कर दिया ना अतीत प्रकरण या सप्तमी वचन मेरे को कोई बात नहीं है अतीत दोनों ही प्रकरणों में सिद्ध हो गया प्रतिमा का वचन क्यों लेना सप्तमी दोनों प्रकरणों में ऐसा अर्थ हो जाएगा अच्छा तब कहते हैं कि भाई यथ उपासना कैसे हो गया पूर्व में कह दिया गया तो आप वो कैसे सिद्ध करोगे यहाँ कभी कह क्योंकि उपासना श्रुत हो उसके बाद क्या करे उपासना आत्मनो मोक्ष साधन गत आत्मा को मोक्ष का साधन रूप स्वीकार कर लिया ऐसा जो उपासको अहम मम उपास्यम ब्रह्म और इस निर्णय कर लिया उपासक कौन है मैं उपासक हूँ और मेरा उपास्य क्या है मेरा उपास्य ब्रह्म है ऐसे जो मान लेता है तद उपासना कृतवा और वह इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करके जाते ब्रह्मनी वो कार्य ब्रह्म ही इधानी वर्तमान हो इस समय विद्यमान है जो कार्य ब्रह्म उसी कार्य ब्रह्म में अजम ब्रह्म शरण बाधा ऊर्जम प्रतिपक्ष है और यह निर्णय लेता है मैं तो अज ब्रह्म को जीते जी प्राप्त कर नहीं सकता मरने के बाद पालूंगा प्रावत प्रत्यक्ष प्रतिपक्ष है प्रावत प्रत्यक्ष अजम इदम सर्वमहम क्योंकि ये भी निर्णय लेता है कि उत्पत्ति से पहले ये तो अज का इदम सर्वम यह सारा जगत भी अजता और अहम मैं भी अजीत इसके बिना मरने का तो प्राप्त नहीं कर सकता तो उपास उपासक भाव से जो हम करें निर्गुण ब्रह्म को भी करते हैं वो क्या होगा किस प्रकार की भ्रांति हमें से मानी जाएगी संवादी भ्रांति उपास्य उपासक भाव से निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हूँ और मेरा उपास्य निर्गुण ब्रह्म है ऐसे मान करके वह निर्गुण ब्रह्म को निष्कल निरंजन है है ना निलयन है वो कैसा विचार करते हुए आप चिंतन करते करते करते करते ये निर्णय ले लोगे इस समय वास्तव में मैं आज हूँ फिर भी मैं उपास उपास भाव से वेद कर रहा हूँ तो मरने के बाद मैं उपास ब्रह्म को प्राप्त करूंगा ऐसे जो मान के चलेगा क्योंकि पहले उत्पत्ति से पहले भी मैं भी ब्रह्म था सारा जगत भी ब्रह्म था सारा चीज जो जो अजम इदम सर्वम अहम ऐसा निर्णय कर लिया यदात्म को हम प्रवृत्त इधानी जातो लेकिन समस्या इतना ही उसके अंदर एक अज्ञान है जो भ्रांतिकांश यही है इसलिए समाज भ्रांति कहा जाता है इसी चीज को भ्रांतिकांश इतना उसके अंदर है इतना जानता जो तो है उत्पत्ति से पहले मैं आत्मा हूँ जिस रूप का वाला मैं था यदात्म को हम प्रावत्पत्ति जिस रूप वाला मैं से पहले था अब इधानी तू जा इस समय तो मैं पैदा हो गया हूँ और जाते ब्रह्मणि च वर्तमान और कार्य ब्रह्म में विद्यमान रहते हुए उपासना उपासना के माध्यम से तदेव से वापस में वही लौटूंगा जो उत्पत्ति से पहले मेरा स्वरूप था उस स्वरूप में मैं वापस पहुंच जाऊंगा ऐसा हो मैं था शुद्ध लेकिन मैं उत्पत्ति को प्राप्त कर गया हूँ वास्तविक माने उत्पत्ति को प्राप्त कर लिया हूँ और मैं कहा रह रहा हूं उत्पन्न होकर के कार्य में रह रहा हूँ ये भी जान रहा हूँ ये उसके अज्ञान मैं उत्पन्न हो गया मानना ही अज्ञान ही कृपाता है अब भी मैं आज हो नहीं मान रहा उत्पत्ति से पहले अज था मरने के बाद आज हो जाऊंगा पहना में जो जन्म ले चुका हूँ जात हूं मैं ब्राह्मण हूँ जिसने जन्म लिया हूं इसलिए तो मैं ब्राह्मण हूँ तो हूं हूँ तो वैश्य हूँ तो शूद्र हूँ कुछ ना कुछ हूं ये मान के उसको चलना पड़ेगा और जब ऐसा मान के चलने लगेगा तो उसके अरे भी आएगा फिर मैं हूं तो कहा जन्म लिया हूं मैं कहा ब्रह्म जन्म लिया हूं तो उसको मानना पड़ेगा यही उसके अंदर कृपणता है और ये मान के चल रहा है उपासना के द्वारा मैं धीरे धीरे धीरे उपासना करते करते करते जब मर जाऊंगा तो अंत में उसी ब्रह्म को जो उत्पत्ति पूर्व आ था मैं तदात्मक हो जाओ इतव उपासना शब्द धर्म साधक हो उपासना के धर्मों का आश्रत करने वाला तार धर्मी रूपी जो साधक है एन एन एवं जिसने वो साधक ऐसे कर रहा है इसलिए क्षुद्र ब्रह्म तो क्षुद्र ब्रह्मविद्ता है तेन असो कारण है ना इसी कारण से ही कृपणो तीनों अल्पका स्मृतो इसलिए उसको कृपण कहा गया दीन कहा गया अल्पज्ञ कहा गया है ऐसे श्रुति स्मृतियों में सर्वत्र कथन किया गया नित्य जो ब्रह्मदर्शी विधि रीति अभिप्राय कौन कहता है इसे इनको कृपण करके कथन जो नित्य अजरूपी ब्रह्म का जो दृष्टा लोग है वे लोग कहते हैं इस प्रकार से प्रयाग को क्षुद्र भाव में ले जाने वाला जो होता है वह निश्चित रूप से कृपण है शाखा में यह बात स्पष्ट का है उपास्य ब्रह्म तो ऋषि दर्शन कराते हुए वहां उपासक की निंदा करता हुआ कहा है यद्वाभ्युतम ये नवागभ्युते तदीव ब्रह्म तुम विधि निगम यदिदम उपासते केनोपनिषद शाकीय केनोपनिषद स्पष्ट का कि भाई देखो अनभीतम अनभिप्रकाशितम जो कभी प्रकाशित हुआ ही नहीं मैंने कार्य रूपे कभी प्रकाशित ही नहीं हुआ और उसको तुमने विदित मान लिया प्रकाशित मान लिया कार्य मान लिया यद्वानभ्युतम ये नवाद अभ्युदित कहते हैं कि भाई जिससे वाणी का अभ्युदय नहीं हो सकता वाणी से जिसका प्रकाशन कभी नहीं हो सकता बल्कि जिसके कारण से वाणी प्रकाशित हो रही है खुद वाणी से आप ब्रह्म को कभी प्रकाशित नहीं कर सकते बल्कि ये न ब्रह्म नहीं तो विद्युत है जिस ब्रह्म की प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है न यश विभाग बांत मन भाग्य सर्व इत्यादि तो ब्रह्म संविधि जिसके द्वारा ये वाणी सब अपने शब्द राशि को जो प्रकाशन कर रही है उस ब्रह्म को भ्रम करके समझो नईदम यदि उपासक जिसको इदम जब उपासना करते हो वह भ्रम नहीं करके उपास्य उपास उपासना भाव का खंडन कर चुके हैं इतने श्रुते है राम इस प्रकाश के नोपरिषद में स्पष्ट है जो उपासक है वह वास्तव में अद्वैत विरोधी है इसलिए उसको अद्वैत आहुति कभी हो नहीं सकती है वो कृपण है ये कहा गया था कल और फिर कौन अनुभव कर सकता है जो अकृपण अनुभव कर सकता है उसी के लिए अगली का आरंभ हो रही है अत वक्ष्याम्यकारण्यम अजाति समता यथा न जायते किंचित जायमानम समन्वत अतो वक्ष्याम्यकारण्यम कर इसलिए सर्वत्र जो समता को प्राप्त समताम गतम सर्वत्र जो समता को प्राप्त हुआ है और अजातीय अजन्मा है एवं अकार्पण्य है जो अधीन भाव को वाला वस्तु है तो किसी के भी अधीन होकर कुछ होता नहीं ऐसा जो तत्व है उसका बारे में अब मुद्दे रूपण करूंगा कहूंगा यथा रजायते किंचित जिस प्रकार उसको समझना होगा कि वह सभी ओर से उत्पन्न हो भी रहा है जायमान संबंध था फिर भी वह कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है तो ऐसा विलक्षण तत्व है जो कि आपको अनुभव में आएगा ऐसा कि चारों तरफ वही पैदा हो रहा है उसी से सब उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन वास्तव में विचार करके देखते हैं तो उसे कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा ऐसा विलक्षण तत्व तो जो कार्पण्य तत्व है उसको मैं तुम्हारे ये कहूंगा कार्पण्य मैंने भेद द्वैत अकरण मैंने अभेद अद्वैत ब्रह्म ब्रह्म का एक नाम है अकारपण्यम अनेकों नामों में से ब्रह्म का यही एक नाम पड़ गया अकारपण्य सब आया व्यंद्रम अजम आत्मा प्रतिपत्तम अशक्नवन अविद्या दीनम आत्मा न मन मानो जातो हम जाते ब्रह्मणी वर्त तद उपासना प्रतिबंध कृपणो भवदी इसलिए जो व्यक्ति बाह्याभ्यंतर जो अज आत्मा को सम्य प्रकार से अनुभव करने में समर्थ नहीं प्रतिपत्तुम अशक्नुवन अविद्या दीनम अविद्या के कारण दीन भाव को प्राप्त है पराधीन सा अपने आप को महसूस करता है और अपने आप के मानता है कि मैं पैदा हो गया आत्मा मन मानो जातो हमिति जाते ब्रह्मणी और कार्य ब्रह्म में मैं रहता हूँ वर्ते मैं जन्म लिया हूँ और मैं कार्य ब्रह्म में रहता हूँ इस प्रकार से मानते हुए तद उपासना आश्रित सन कार्य ब्रह्म की उपासना को आश्रित करते हुए धीरे धीरे धीरे शुद्ध ब्रह्म को मैं प्रतिपक्ष अंत प्राप्त करूंगा इतम प्रतिबंध इस प्रकार से दृढ़ निश्चय वाला होकर वो जो अधिकारी है वो क्या है वो कृपणो भवती वो वास्तविक कृपण है यशना जिसलिए ऐसा है अतः इसलिए वक्ष्यामी अकार्पण्यम अकृपण भाव अकार्पण मैंने अकृपण भावम अजम ब्रह्म अकृपण भावम अकृपण भाव को हम का कारण है जो ब्रह्म है अकृपण भाव क्या है साक्षात ब्रह्म ही है उस ब्रह्म तत्व के बारे में कहूंगा कैसा है वो तद्य कार्पण्यास्पदम यत्र अन्योन्यत पश्यति अन्य क्षण अन्य विजानादि तदल्पम मर्त्यम असत वाचन विकारणश्वर दिव्य वही कार्पण्य को प्राप्त हो जाता है जो ऐसा अनुभव में आवे कैसे यत्र अन्यो अन्य पश्यति जहाँ अन्य अन्य को देखने लग जाए अन्य अन्य को सुनने लग जाए अन्य अन्य को जानने लग जाए वो अल्प है वो अमर्त्य है वो असत्य है वही कृपा है वाचार मन विकार नामधेय और श्रुति प्रमाण वाचारम्भम विकारो नाम ये जो नाम है विकारात्मक विकार जितने भी है वह तो हमारे वाणी का विलास मात्र नाम मात्र ही है दोनों ही की का है तद सब आया मजम अजमकार पुण्य भूमाक्यम ब्रह्म ठीक उसका विपरीत सब आया अभ्यंतरम अजम व बाह्यांतराभ्यंतर विशेष कार्य कारण दृष्टिया वास्तव में वो अज ही है न उसका कोई कार्य उत्पन्न हुआ न उससे न उसका कोई कारण वो खुद कार्य नहीं है ताकि वो किसी कार्य कारण से उत्पन्न होता हो और न वो खुद कारण ही है उससे कोई इसलिए कार्य भी पैदा नहीं होता इसलिए अकारपण्य है घूमाख्यम ब्रह्मो घूमा नाम से सुप्रसिद्ध ब्रह्म ही है ये प्राप्त जिसको अनुभव करके उसको स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत सर्व निवृत्त है अविद्याकृत जो समस्त प्रकार की जो कार्पण्यता थी भेद बुद्धि द्वैत में जो है भयादि सब के सब निवृत्त हो जाएगा इसलिए तत् ब्रह्म अकार्पण्यम वक्ष्यामी त्यर्थ अकार अकारपण्य तो ब्रह्म को मैं कथन करने जा रहा हूँ कैसा है वो तत् अजाति सबसे पहला उसको जो कथन करने का लक्षण है अजाति महाराज जाति रस्य जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं हो समदाम गतम मन सर्वसाम्यम गतम और वो कैसा है सभी और समता को प्राप्त है सर्वसाम्यम गतम निर्धर्मदा निर्धर्म गताम गतम सर्वसाम्य का मतलब क्या किसी भी एक वस्तु के धर्म को अपनाया नहीं अतः सधर्म का नहीं रह गया निर्धर्मक हो गया क्योंकि घट में भी पट में भी मठ में भी हाँ हवा में भी सब जगह रहने वाले का क्या धर्म होगा न तो उसके अंदर हवा का धर्म है वायु का न आकाश का न पृथ्वी का न जल का न तेज का किसी भी एक वस्तु का धर्म से संबद्ध नहीं और जो सर्वत्र रहने वाला वो सभी का धर्म से संबद्ध कह भी नहीं सकते क्यों तो धर्म सारे के सारे ये ठंडा है तो गर्म है दोनों के साथ कैसे रहेगा यानी नहीं अग्नि में भी वही है जल में भी वही है और दोनों का धर्म ब्रह्म में मानोगे हो नहीं सकेगा फिर यदि ठंडा रहेगा ब्रह्म तो गर्म नहीं हो सकता और गर्म है ब्रह्म तो फिर ठंडा नहीं होगा इसीलिए जो सर्वत्र व्यापक जो होगा वह तो किसी उपाधि से संबद्ध होकर गुण दोष से संबद्ध होता हुआ सधर्मक कभी हो नहीं सकता क्योंकि जो जगत है सर्वरूप है वह तो परस्पर विरुद्ध धर्मों वाला अनंत रूप पदार्थ रूपा है उन सब में व्याप्त वस्तु अवश्य ही निर्धर्मक होगा इसलिए सर्वसाम्यम गर्धर का भाव गतम भवती खसनात अवय वैषम्य भाव क्यों ऐसे कहते हो क्योंकि उसमें अवय कर तो वैषम्यता दोष नहीं है यदि सावय वस्तु तद अवय वैषम्यम गच्छत जायत है कि जो सावय वस्तु होगा वह अवयवों की वैषम्यता को लेकर के ही आप व्यवहार करने लगते हैं अरे उत्पन्न हो गया ठीक तो है कपड़ा तो वैसे का वैसे ही है लेकिन उसके अवयव में आपने विषमता लाया उसको काट दिया उधर से जोड़ दिया उधर से जोड़ दिया उधर कुछ कर दिया केड़ा गए मेढ़ा गए कुछ कर डाला तो नाम रख उसका शर्ट हो गया है या नहीं पैजामा है कुर्ता है अलग नाम रख है तो वही सफेद कपड़े एक ही तरह से कहते सब और उसके अवैध सन्निवेश विशेष को आपने बदल दिया तो नाम अलग अलग देते गए और क्या उत्पन्न हुआ पेंट उत्पन्न होता है क्या है? कुछ नहीं खबरा है या नहीं तो उसने कहते जहाँ अवयवों का सावय वस्तु होगा वही पर उत्पत्ति का व्यवहार हो सकता है क्योंकि आप उसके अवयवों के द्वारा कुछ वैषम्यता को ले आएंगे आप व्यवहार कर लगेंगे ये चीज इससे उत्पन्न हो गया मिट्टी के ढेर का था उसमें पानी वानी मिलाया किसी तरह चिकनापन लाया और उसको अपने आकार दे दिया आपने वो अवय भी तो वही मिट्टी के कण है मृत कहते हो सत्यम का वाचारण भी कारण गई तीसरे कहते हैं कि देखो आपने किया कुछ नहीं है अवयवों के द्वारा कुछ विलक्षणता को पैदा कर दिया उसी को लेकर अमुक कार्य पैदा हो गया व्यवहार करते हो और ये जो आत्मा में भी व्यवहार नहीं हो सकता क्यों इदम तो ब्रह्म निरवयता समता गतमिति न कैश्चित अवय स्फुटती अतो अजाति अकारपण्यम और ये जो ब्रह्म है ये निरवय है ये निर्धर्मक है इसलिए आप किन्हीं अवयों के माध्यम से इसे किसी चीज को उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं कर सकते अतएव इसको कहा जाता है ये आजादी है अकार्पण्य है स्फुटन अभिव्यज्य थे वैश्य मैंने उपचय क्षमता ही उपचय हो अपचय घटाया बढ़ाया कुछ न कुछ किया आपने और स्फुटति करते अभिव्यक्त आप किसी अवय के द्वारा कुछ अभिव्यक्त वहां कर नहीं सकते क्योंकि वो निरवय है समन्तता समन्ता यथा न जायते एकदम चतुर्थ न न जायते किंचित जायमान समन्तता जायमान समन्तता तो पहले ले रहे भाषिकार कि समन्तता समन्ता यथा न जायते किंचित समंद का वास्तव चारों तरफ से कहीं से भी कुछ भी वास्तव उत्पन्न ही नहीं होता किंचित अल्पम न स्फुटी किंचित अभी भेद द्वैत अल्पत्व वास्तव में अभिव्यक्त हो गया फिर भी राज्य सर्व के समान राज्य सर्व पर अविद्याकृत दृष्टिया जायमान अविद्याकृत दृष्टि के द्वारा उत्पन्न भी हो रहा है अविद्या दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है वास्तव में वहां कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है ऐसा कहते रज्जु सर्वद अविद्याकृत दृष्टिया मैंने अविद्या जनित भ्रांति रूपया दृष्टिया जायमानम जायमान उपलब्धमानम अभिव्यक्ति हो रहा है उसका अभिव्यज्यमानम ये प्रकार न थे वास्तव में किस प्रकार से नहीं उत्पन्न हो रहा है सर्वतो अजम एवं ब्रह्मवती तो अज ही है ब्रह्म कैसे है वो इस प्रकार से है इसी प्रकार को तथा उसी प्रकार को तम प्रकारम सुनो उसी प्रकार को कथन करने जा रहा हूँ तुम सुनो इसका तात्पर्य है यथा न जाए तो बोल दिया ना इधर तथा सुनो अध्यार कर लिया भाषिकार ने कैसा है वो प्रतिज्ञा वाक्य में द्वैत द्वारा परमात्मा जो प्रकृत है वो कथन कर दिया गया और किस प्रकार का है लेकिन यथा तथा उसके प्रकार वे बता रहे हैं किस प्रकार से वास्तव उत्पन्न होता है कुछ भी अभिव्यक्त नहीं होता है ये बताओ आत्मा ही आकाश जीव है घटादिवच्च संघात जाता वेतन निदर्शनम उत्पत्ति के प्रति ये दृष्टांत हो सकता है उत्पत्ति के प्रति ये दृष्टांत हो सकता है जैसा व्यवहार कर लेते हैं घटाकाश उत्पन्न हो गया जाता एतत् निदर्शन जातो मैंने उत्पत्त उत्पत्ति के विषय में आप इसको दृष्टांत बना सकते हैं जैसे पहले क्या है आत्मा क्या है आकाशवत है वास्तव में और जीव घटाकाशी घटाकाश क्या है यही जीवात्मा समझो उस परमात्मा रूपी आकाश से घटाकाश रूपी जीवात्मा उत्पन्न हो गया उदित अभिव्यक्त उदित हो गया है प्रतीत हो गया वास्तव प्रतीति मात्र जीवत्व का घट उत्पन्न होने से है उपाधि के कारण घटाकाश उत्पन्न करो घटाकाश की उत्पत्ति है क्या वास्तव में घटाकाशी कोई उत्पत्ति है नहीं घट रूपी उस आकाश में ही परिच्छेदक घटात्मक वस्तु को आप निष्पादन कर लिया वो भी मृतिका का अवय सन्निविशेष मात्र ही है वो भी वास्तव में कोई उत्पत्ति नहीं है घट नाम की भी और इस तरह से चलते जाओ तो मृतिका भी क्या है वो भी त्रिगुणात्मक जगत का जो है त्रिणात्म माया का सन्निवेश विशेष मात्र ही माना जा सकता और माया क्या है वो अनाचरण काल से दिखाई दे रहा है जिसलिए इसलिए माना जा रहा है नहीं तो माया कहाँ है अविद्या कहाँ है है अभी आपने सुना ही है गीता जी में आया था ना किसके पास अविद्या है, किसके पास है किसी के पास नहीं है जो कहता है मेरे को जगत दिखाई दे रहा है तो उसके पास है जो मान रहा है कि मेरे को जगत दिखाई दे रहा है मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ मेरे को संशय हो रहा है इसका आदर मतलब तुम्हारे पास जरूर विद्या है किसी के पास नहीं तो किसी के पास नहीं है वास्तव में अविद्या माया किसी के पास नहीं है है ही नहीं वो किसी के पास क्या हो ये तो कोई चीज हो ना आपके पास रहेगा अरे दस रुपया नाम का कोई चीज आप है मान लोगे तब वो आपके जेब में ही आने सोचोगे और फिर कहोगे मेरे पास है या मेरे पास नहीं है पहले चीज हो तब ना उसका मेरे पास ही आने विचार होगा जो चीज है ही नहीं उसका किसके पास कुछ क्या रहे है ही नहीं जो चीज वो किसके पास रह सकता है क्या ऐसे ही पूछा अगर वंद्या पुत्र तो किसके घर में है ढूंढो भाई कहा खो गया है और भाग गया पकड़ के लाओ कहा से पकड़ के लाएंगे कहा ढूंढो किसके पास रहेगा वो तो है नहीं जो उसी प्रकार है माया किसके पास ये प्रश्न ही बनता है ये तो उसने कहा वहां पर पूर्व पक्षी ने पूछा था किसके पास अभी चल रही है तो उन्हें कहते इसका कोई जवाब ही नहीं तो प्रश्न ही अनुभवन है ऐसे ईश्वर में सबसे पहले जवाब यही कहा प्रश्न ही अनुभवन किसके पास प्रश्न से पूछ रहे हो बंदे पूछ पूछने वाली बात है ये प्रश्न ही मतलब फिर विचार विचार करके अंत में है जो ऐसे पूछ रहा है उसके पास जिसको द्वैत दिखाई दे रहा है उसके पास अविद्या इसलिए वास्तव में इस अंत में देखोगे घट भी उपाधि नहीं इसीलिए घटाकाश के समान कह करके प्रतीति मात्र यहाँ पर उदिता का तात्पर्य उत्पत्ति से मतलब नहीं उत्पत्ति कृत प्रतीति मात्र ही होता है संघात ही वो भी कैसे हो गया घटादि के समान इन संघातों के माध्यम से उत्पत्ति के जैसे प्रतीति होने लग गया इस तरह से उत्पत्ति के विषय में हम एक दृष्टान्त दे सकते हैं अच्छा भाष्यकार कहते देखो उदित होती प्रतीति गोचर होती इत्यर्थ नारायण जीवा कारण प्रतिनिधि गोचर होती ऐसे है इस पर टीका कर उदित का व्याख्यान अजाति ब्रह्म अकारपण्य पक्षामी आपने ब्रह्म को एक नाम दे दिया था अजाति दूसरा कहा था अकारपण्यम ऐसे उस तत्व को मैं कहूंगा ये आपने जो प्रतिज्ञा की थी ये प्रतिज्ञातम तत्सिद्ध्यर्थम उसी के स्वरूप सिद्ध करने के लिए हेतु दृष्टान्त पक्षा मित्या मैं अनेक हेतुओं को भी कथन करूंगा और दृष्टान्त को भी कथन करूंगा इत्या इसी भाव से ये कारिका कही गई है आत्मा परो ही ये आत्मा का शुद्ध ब्रह्म बर्बाद पर इसलिए कर दिया ही मैंने यस्मात तो कैसा है वो कहते आकाश यस्मात भवती जिसलिए वो आकाश के समान है आकाश के समान है का मतलब दृष्टांत को भी आप बताओ किस दृष्टि से कह रहे हो क्योंकि आकाश तो वेदांत अनुसार है कार्य दृष्टान मेरे हो गया नहीं नहीं गत्य भाई सूक्ष्म निरवयत्व सर्वगतत्व ये लेना दृष्टान्त और दास्तांत में सादृश्य घटाना पड़ेगा ना ब्रह्म में तो ऐसा कौन सी चीज है जो आकाश को आप उसके लिए दृष्टान्त बना रहे हो तब तो कहते हैं वो आकाश के समान सूक्ष्म है निरय है सर्वगत है इन्हीं तीन को लेना कार्य पद तो नहीं लेना माया का कार्य वो है ना तत्वादि तस्वाद आकाश संभूत कह दिया है दूर वो कार्य आकाश को दृष्टान नहीं बना रहा हूँ यहाँ फिर दाखम घटेगा नहीं फिर ब्रह्म कार्य हो जाएगा और रहनी कार्य उसी से पैदा हुआ आकाश ब्रह्म से पैदा होने ब्रह्म से पैदा होगा इसलिए दृष्टान दृष्टान्त कभी भी शत प्रतिशत घटाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए किस अंश में दिया जा रहा है ये जान लो पहले और उतने अंश घटता ही घटता नहीं ये विचार करके भरोसे विचार आदि दोष आप दे सकते हैं इसलिए बता दिया भाषाकार स्पष्ट भाई अब इन बात तीन तत्व को लेकर के हम दृष्टान दे तीन बात क्या है एक तो सूक्ष्म दूसरा निरवयत्व तीसरा सर्वय जो कि पूर्व कार्यक्रम में घटेगा वो बात पूर्व कार्य में तो निरवयत्व तो का ना सावय में ही आप वयव लक्षण करके कार्य बना सकते हो इसलिए कार्य नहीं हो सकता है और सर्वगत तुम्हें तो भी कहा था और सर्वगत है इसलिए उत्तर ही हम है तस्मान तस्मात वो इसलिए हमने कहा कि आकाश के समान ये पर ब्रह्म परमात्मा है तो जीव ही क्षेत्र के ही घटाकाश जीव का मतलब क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र कौन है क्षेत्र चाहते माम जो परमात्मा ही है ये घटाकाश भी क्या है आकाश ही है कोई दूसरा है क्या घटाकाश और आकाश में कोई भेद है नहीं है घटाकाश भी आकाश ही घटाकाश के परिचिन भाव की परिकल्पना हो गई घट के कारण से नहीं तो वास्तव भी आकाश आते हुए ग्रत गुण दोष के अगर आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता आज हाँ, जब कहते हैं ना घट मुंह लगा करके सुन के देखते अरे दुर्गंध है दुर्गंध किसका आया घटाकाश का घट का है घट का है घटाकाश में नहीं है दुर्गंध है सुगंध तो घट के दुर्गंध सुगंध आकर लगता है घट के घटाकाश में है अरे भाई धो के लाओ धोके ला किसको धोया घटाकाश को धोए कि घट को धोए बर्तन धो के लाते हो खराब है करके तो आपने बर्तन को धोया बर्तन आकाश को नहीं धोते हो उसे धोने की जरूरत ही नहीं वो तो अपने आप में स्वच्छ है इसीलिए कहा कि उपाधिकृत गुण या दोष के साथ लेश मात्र भी संबंध औपाधिक तत्व का नहीं होता इधर आज जाके घटाकाश को दृष्टान बनाया हुआ इधर कहते कि देखो वो जो है ना जीव क्या है क्षेत्र घटाकाश मैंने घटाकाश तुल्य ही उदित उक्त घटाकाश के समान वह प्रतीति है अभिव्यक्ति है ऐसा कहा जाएगा सवेर आकाश समहा पर आत्मा और जीव कोई और नहीं वो तो जो घटाकाश क्या है आकाश सम ही है ठीक उसी प्रकार ये जीव भी परमात्मा ही सिद्ध हो गया अथवा दूसरे ढंग से भी इसको लिया जा सकता है व्याख्या घटाकाश्यर यथा आकाश उदिता उत्पन्ना तथा परो जीवात्मा भी उत्पन्नो नाम परस्मात आत्मना उत्पत्ति श्रीयते वेदांत सा महाकाश घटाकाश उत्पत्ति समा न परमार्थ उदित अभिप्राय घटाकाशों के द्वारा जैसे आप कहते परिचिन परिचिन आकाश उत्पन्न हो गया उत्पन्ना जिसे समस्त आकाश जो व्यापक है इसमें उत्पत्ति आप नहीं जान पाते लेकिन घटाकाश घटाकाश की उत्पत्ति सब क्या हो रहा आकाश पैदा हो गया आकाश देखो परिचिन हो गया आप घटाकाश को पैदा किए घट को पैदा करने से घटाकाश उत्पन्न होगा और घटाकाश का पैदा होने को क्या बोलते हो आकाश ही परिचिन होकर पैदा हो गया उसी प्रकार इन शरीर आदि का पैदा होने से इसमें प्रतिबिंब चैतन्य भूता जीवात्म जब पैदा हो गया उस जीवात्म तो क्या बोलते हो तो ब्रह्म ही जीव बन गए पैदा हो गया ऐसा व्यवहार कर देते ऐसा भी दूसरे तरीके से घटा रहे देख लो बड़ा सुंदर ढंग है घटाकाशरी यथा आकाश और घटाकाश उत्पत्ति द्वारा आप व्यवहार क्या करते हो आकाश ही परिच्छिन्न भाव को प्राप्त हो गया उत्पन्न हो गया उत्पन्न तथा ठीक उसी प्रकार क्या कहोगे जीवात्मा नाम परस्मात आत्मोत्पत्ति ही जीवात्माओं की उत्पत्ति के द्वारा जीव जीवात्मा ने जीवोपाधि हाँ, घटोपाधि उत्पन्न हुआ तो उसे घटाकाश उत्पन्न हुआ घटाकाश उत्पन्न होने से आकाश पैदा हुआ उसी प्रकार यहाँ जीवात्मा बिना शरीर आदि देहा संघात आदियों की उत्पत्ति के द्वारा जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई और जीवात्माओं की उत्पत्ति को अपने गले पर आत्मा ही उत्पन्न हो गया व्यवहार परस्मा आत्मा ने उत्पत्ति आश्रियत है जो आपको कहीं कहीं पर अनेक जीवन आत्मना तक और प्राविशद इत्यादियों के द्वारा ऐसा लगता है कि परमात्मा ही प्रवेश कर गया परमात्मा ही पाया हो गया ऐसा जो सुनाई देता है श्रुति वेदांतेशु सा महाकाशत घटाकाश उत्पत्ति समा उसी प्रकार से है जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति है लेकिन विपरीत व्यवहार लोग कर देते हैं घटाकाश उत्पन्न होता हुआ देख करके कर देते हैं अरे महाकाशी घटाकाश पैदा हो गया तो उल्टा व्यवहार लोगों की अपनी भ्रांति है इन वास्तव में उत्पत्ति नहीं हो सकती न परमार्थता परमार्थ तक यह आकाश घटाकाश उत्पन्न नहीं हुआ इसी प्रकार से परमार्थ पर ब्रह्म परमात्मा शुद्ध ही जो है जीव रूप में उत्पन्न हो गया ये भी कहना उचित नहीं भले श्रुतिया कहते अने जीवन रूपेण अने जीवन आत्मना नाम रूपम व्याकरवाणी इत्यादि अनेक श्रुतियां व्यवहार कर रही है इसमें कोई संशय नहीं है फिर भी वो भी तथा पावका विस्फुलिंगा इत्यादि तो श्रुतियां मुंडक में भी आया तो ये सारी चीजें जितनी भी कही गई है वो सब बात जो है पारमार्थिक दृष्टिकोण से नहीं है वो उत्पत्ति भी केवल प्रातिभाषिक दृष्टिकोण से है प्रतिथि मात्र को लेकर व्यवहार किया जा रहा है जिसके पास अज्ञान है जिसके अंदर ऐसा जीवोत्पत्ति की बात कही जा रही है उसी को समझाने के लिए उत्पत्ति अपारमार्थिक है इस बात को समझाने के लिए दृष्टांतों को दिया गया है तस्मादेव आकाशात घटार्य संघात है तो उत्पद्यंत है उसी आकाश से आप क्या कर देख रहे हैं घटार्य संघात में उसी आकाश से फिर आकाश घट से पैदा हो जाए आकाश में ही घट पैदा हो रहा है और आकाश से ही पैदा हो रहा है आकाश में और आकाश से ही पैदा हो रहा है इधर ब्रह्म में और ब्रह्म से ही उत्पत्ति की परिकल्पना हो रही किसकी आकाश आदि उनकी उसी घट कहा है तो आकाश में है या नहीं घट कहा है आकाश में है और घट कहा से पैदा हुआ आकाश से पैदा हुआ इसलिए कहते कि देखो आकाश आदि घटादि संघात यथा उत्पद्यंते एवं आकाश स्थानीय परमात्मा आकाश के सदृशभूता जो है कौन है दास परमात्मा उस परमात्मा से पृथ्वी आदि भूत संघाता आध्यात्म काश्य कार्य करना लक्षण रज सपोज विकल्पिता जायते पृथ्वी आदि भूत संघात आध्यात्मिक आदि समस्त कार्य करण संघात जितने भी है सारे चीजें उसी तरह से उत्पत्ति है जैसे रज सर्व के समान विकल्पिता जायते विकल्पित होकर के अविद्या के द्वारा भ्रांति से प्रतीति मात्र ही है हत उच्च घटाधिच संगातिर हुई थी इसलिए आगे का तृतीय पाद है जो इस कार्यक्रम में कहा गया घटाधिवच संगात ये कहा गया पीड़िता थी ऐसा कर लेना पूर्व के साथ संघातों की उत्पत्ति से उस संघाती भूत परिचन्न आकाश की उत्पत्ति के जैसे ही यह व्यवहार हो गया है समझो यदा मध्य बुद्धिम प्रतिपिपादेशया श्रुत्य आत्म चातुर्चत है जीवादी नाम कहते जिस प्रकार से मंद बुद्धि वाले मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी तो जरूरत ही नहीं और मांडव का परिषद उत्तम अधिकारी के लिए होता है है ना मांडव के मेघ कमे वाल मुमुक्ष नाम विमुक्त कहा गया है ये बहुत कठिन है इसको पहचाना इसलिए भी पूरा अहंकार को तोड़ देता है है नहीं पहले नहीं हो बेमतलब सोच रहा मैं कुछ हूँ अरे तुम क्या हो है नहीं जो पैदा ही नहीं हुआ कुछ और मान रहे हो मैं हूँ तो अहंकार है ना मैं क्या हूँ कुछ नहीं क्या भ्रांति है क्या ब्राह्मण मैं क्षत्रिय मैं वैश्य मैं देवदत्त मैं अमुक ये कुछ नहीं पैदा ही नहीं हुआ संसार ही नहीं पैदा हुआ तो कहा से पैदा हो गया हम माया ही नहीं है संसारी पैदा नहीं हुआ तो तुम्हारी उत्पत्ति कहा जाएगी इसे तोड़ता है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है मांडव की समझ में ये धीरे संख्या करती जाती है ना इसलिए <laughs> अंत में दस बारह रह जाते हैं मांडव की के बड़ा मुश्किल होता है इसको पचना अरे सारे संपर्क पिछड़े वैसे तो पहले सबको मिथ्या कर दिया ना सारा संप्रदाय सब अरे द्वैत है ही नहीं मिथ्या है कहा तुम चक्कर में पड़े केवल दुराभिमान हो रहा है अविद्यावशा और यहाँ पर पुनः वही बात कहेंगे जो सिद्धि करना है नहीं अब केवल वहां पहले आगम प्रदान था और युक्ति प्रदान से अर्थ था अद्वैत सिद्धि थी और युक्ति तो से साक्षात अद्वैत करने जा रही थी तो और कुठाराघात करेंगे जबरदस्त <laughs> पहले थोड़ा मुलायम रास्ते अपनाए थे नहीं युक्ति से पहले द्वैत को मिथ्या का और द्वैत मिथ्या तो क्या देगा आपका अद्वैत तो स्वरूप सिद्ध किया और आप तो युक्ति से सीधे ही अद्वैत सिद्ध करने जा रहे हैं तो और भी खतरनाक रास्ता है तीसरे कहते हैं कि देखो भाष्यकार यदा मंद बुद्धि प्रतिपिपादिशया श्रुत्या जब मंद बुद्धि वालों को प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति के द्वारा आत्मा की उत्पत्ति का कथन कर दिया गया था जीवादी नाम जाति आत्मा से जीवादियों की जाति पर उत्पत्ति उच्चते तथा जातो उस समय में भी उस उत्पत्ति के प्रति हम दृष्टान क्या दे सकते हैं उपगम्य मानायाम तब भी उन मंद बुद्धि वालों को जब हम समझाने के लिए उत्पत्ति को जो मैं स्वीकार करूंगा तारस उत्पत्ति के प्रति दृष्टान क्या होगी पारमार्थिक उत्पत्ति का दृष्टान्त हम नहीं बना सकते किंतु एक निदर्शन यही जो घटाकाश उत्पत्ति है यही दृष्टान्त हो सकता है यथा वज इत्यादि जैसे प्रतीक घटाकाश और परिचन्न आकाश के समान ही उत्पत्ति का प्रति दृष्टान्त माना जा सकता है कत तो उसी पर लय के बारे में बता फिर तो मिथ्या उत्पत्ति के बारे में आपने युक्ति दे दिया इस युक्ति से स्पष्ट हो गया ना जीवन की उत्पत्ति मिथ्या है जीव उत्पन्न नहीं हुआ इसे घटाकाश क्या है महाकाश ही है इसे जीवात्मा क्या है ब्रह्म ही है अद्वैषित हो जीव ब्रह्म द्वारा तो आई बात खत्म हो गई युक्ति से अद्वैषित कर दिए लय को लेकर के बताओ कहते घटादिशु प्रलीनेशु घटाकाशादयो यथा आकाशे संबलीयंदे जीवाय आत्मनी जैसे घटारी घट को फोड़ दो आकाश कहा गया घटाकाश तो महाकाश में ये शालीन हो जाता है घटादि शुक्लीनेशु एक ही करे घटाकाशे प्रलीनेशु नहीं घटाकाश प्रलीन होता ही नहीं घटाकाश का विनाश आप कर नहीं सकते हो घट का विनाश कर सकते हो लेकिन घटाकाश का विनाश कोई नहीं कर सकता इसलिए आप महत्वपूर्ण बातें कह रहे कि लोग कहते जीव मर गया अरे जीव को तो मर ही नहीं सकता जीव कैसे मर जाएगा जीव मर गया तो ब्रह्म मर गया ये जीव मर नहीं सकता है जैसे घटाकाश का नाश नहीं कर सकते हो तो महाकाश को कैसे नाश कर हो नाश किसको कर सकते हैं आप घट का ही नाश हो सकता है घटाकाश का नाश नहीं हो सकता और घटाकाश घट का नाश होने से भ्रांति हो गई आदमी को कि घटाकाश नष्ट हो गया लेकिन वास्तव में घटनाशात घटाकाश का नाश नहीं होता किंतु घटाकाश महाकाश में जो प्रतीत उत्पत्ति थी वह प्रतीत विलय है उत्पत्ति भी प्रतीत है प्रातिभाषिक है और लय भी प्रातिभाषिकी है इधर से घटादिशु प्रवीणेशो घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयंत कहा जाएंगे सर घटाकाशादयो आकाशीय यथा प्रलियंत तब ठीक उसी प्रकार से अविद्या उपाधि का नष्ट होने मात्र से यह शरीर जी पद नहीं लेना यही मर रहेगी वक्त मुक्ति हो जाएगी शरीर का मरने से मुक्ति नहीं है यहाँ पर रहा अविद्या उपाधि अविद्या उपाधि का नष्ट हो जाने मात्र से ही जीवा यह आत्मनी समस्त जीव क्या है इस आत्मा में वापस लीन होने के समान लीन हो जाते हैं यथा घटाद उत्पत्तिया घटाकाशाद उत्पत्ति घटारी का उत्पत्ति से घटाकाश आदि की उत्पत्ति हो गई थी ठीक उसी यथाच घटादि प्रलय घटाकाश आदि प्रलय हो इसीलिए यहाँ पर समझो जिस पर घटारी का प्रलय हो जाए व्यवहार क्या होगा घटाश आदि का प्रलय हो गया तब देव देहादि संघात उत्पत्ता जीव उत्पत्ति ही आदि कर आदि से ले चले जाना अविद्या पर्यत बाधिता शरीर सुख शरीर जाओ सुख शरीर में वो सब तत्व है वो तत्व कहाँ से आए है ना अंधगम कर जाओ बुद्धि तक तो बुद्धि से माता तो माता से अव्यक्त प्रकृति तक सब ये सारे विषय उपाधि कोटि में आ गए अविद्या से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत सब उपाधि है ये समस्त उपाधि का नष्ट होने पर तो देहादि संघात उत्पत्ति से जीवोत्पत्ति तब प्रलय अच्छा मैं देहा संघात का जो प्रलय हो गया तो जीवा नाम जीवन दल प्रलय मानी जाएगी यह आत्मनि प्रलय कहा हो रहा है कहते वो यह आत्म जैसे वो कहा हुआ था घटावश आकाश में प्रलय हो गया उसी प्रलय जीवन का प्रलय भी इस आत्मा में ही प्रलय हो न स्वतः कोई स्वतः कोई प्रलय अतिरिक्त नाम वस्तु नहीं हो सकता कहते पूर्व पक्षी कहते हैं महाराज बनती नहीं व्यवस्था आपकी वहाँ पर आकाश से अलग मिट्टी है और मिट्टी में घड़ा पैदा घड़ा पैदा हुआ और उस ने स्व से भिन्न आकाश को परिचिन कर दिया और आपके जो अविद्यादि पर कहा है आकाश से भिन्न कहीं है क्या आत्मा से भिन्न कहीं हो हो तो माना जाए कि अविद्या ने जो सारा पैदा कर दिया शरीर हो गया शरीर हो जाने से वो इस आत्मा को परिचन कर डाला फिर आत्मा से भिन्न